का संपादन किया यह अपना योग शिक्षण शिविर अच्छे प्रकार से प्रगतिशील है आज कुछ अपने दूर दूर से आए सज्जनों के माताओं के सामने अपने आर्यवन विकास दर्शन योग विद्यालय के विषय में कुछ आवश्यक बात बताने की योजना बनाई है हां जी ये बालक हिंदी नहीं जानता है पढ़ना समझता है ईश्वर हो जाता है और इसका उत्साह अच्छा है और बुद्धि भी अच्छी है तो मैंने सोचा इनको कुछ बातें याद करवा और फिर अभ्यास हो जाएगा अब ये कुछ सुनाएगा बोलो आरंभ करो वहीं से जैसे सिखाए ओम भूल भुआ स्वाहा तसवितुर्वरेण्य भर्गो चती माई धियो यो न प्रचोदयात् स्वामी जी महाराज उपस्थित सज्जनों ओ पूज्य माता मैं आपके सामने ईश्वर के चार काम सुनाना चाहता हूँ पहला काम ईश्वर सृष्टि सृष्टि की रचना करता है दूसरा काम ईश्वर सृष्टि का पालन करता है तीसरा काम ईश्वर सृष्टि को बिगाड़ता है और चौथा काम ईश्वर सृष्टि है ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है नमस्ते तो बालकों को ध्यान देके सिखाया जाए तो वो छोटी अवस्था में बड़े बुद्धिमान धार्मिक बन जाते सिखाने की कोई पद्धति नहीं है बिगाड़ने की पद्धति खूब चली हुई है जोरों से ये चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति तक एक आध को छोड़ दे सारे बिगड़े हुए ये बिगाड़ बिगाड़ के ये तो खाली किया घर घर से बिगाड़ते जाते हैं पदों पर भेजते जाते अब वो जो जिज्ञासा रहती है लोगों की और यदि न बताएं तो कहीं भ्रांति भी हो जाती है तो संक्षिप्त रूप से अपने आर्यवन विकास के इन कार्यों के विषय में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा देखिए अब इस दर्शन योग विद्यालय को तो पहले शिक्षण शिविर का रूप था योग शिक्षण शिविर फिर इसको दर्शन योग विद्यालय नाम दिया गया और आज से लगभग कुछ दिन कम छह वर्ष पूर्व की ये सारी की सारी योजना है अब छह वर्ष पूरे हो जाएंगे आने वाला अब हमारा दिन है अभी इसमें इस कार्यक्रम को जो है छह वर्ष अध्ययन अध्यापन को चलते हुए हो जाएंगे अपने आर्य विकास कोषात उससे पूर्व अपने बेलजी भाई बैठे चार वर्ष या पांच वर्ष हुए होंगे उससे पूर्व है तो ये आर्यवन विकास ये जो है ये एक संस्था है एक न्यास है एक ट्रस्ट है आर्य लोगों की संस्था है ट्रस्ट है तो ये आपको जानकारी हो ये जितना भी भाग दूर दूर तक नीलगिरी का दिखता है और ये पीछे किशोर गौशाला ये वहां तक जितनी भी भूमि है ये बहुत परिश्रम करके महान परिश्रम करके ये इस रूप में लाई गई है ऊंचे नीचे टीबे और ये ऐसे ऐसे था इसके पश्चात हमारा जो संबंध जुड़ा हम एक योजना बना के चले थे छह वैदिक दर्शनों को हम पढ़ाएं विद्वान तैयार करें और योग सिखाएं तो ऐसे गवेषणा करते करते आर्यवन विकास के सज्जनों से संबंध हुआ इससे पूर्व बीजवीय भवन नहीं बना था मैं यहां शिक्षण शिविर के लिए आया था नया नया संबंध था मेरा उस समय दस दिन के लगभग वो यहां भवन आदि नहीं बना उसके पश्चात फिर ये योजना बनी तो इस रूप में ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है अब इसके ऊपर हम जो मिलके काम करते हैं कौन कौन क्या क्या करता है क्या होता है थोड़ा सा ये बताऊंगा इसकी जो उपलब्धियां हैं अब तक की वो आपको पुस्तक रूप में मिलेंगी अर्थात कितने विद्वान तैयार हुए कौन कौन विद्वान कहां पर काम कर रहा हैं यहां से कितने विद्वान निकले वो कहां कहां पर क्या काम कर रहे हैं कोई मध्य प्रदेश का है तो कोई कहीं है कोई कर्नाटक में भी है पता नहीं हो तो सारा विवरण मिलेगा आपको ये यहां से दर्शनों के विद्वान अपने स्तर पर योग के विषय में जानने वाले अच्छे बोलने वाले योग्य ब्रह्मचारी जो निकले हैं तो वो आपको यहां की जो उपलब्धियां नाम की पुस्तक है उसमें पढ़ने को मिलेगा वो विवरण जो है उसमें आप देखें बिना जाने बिना समझे कोई ये कह देता है कई बार आर्यवन विकास में क्या हुआ है तो आप उस लिखी हुई बात को ही आप जान के उत्तर दे सकते अब एक भाग है अपना खर्चे का संचालन का तो ये जो दर्शन योग विद्यालय का भाग है ये जो भवन निर्माण न्यास की ओर से हुआ और हमने कहा भवन निर्माण करें और कुछ प्रबंध भी करें तो ये भवन निर्माण कर दिया जाए उसके पश्चात दो वर्ष के लिए घी दूध जितना ब्रह्मचारी खा सकते थे दो वर्ष के लिए वो सारा का सारा अपने न्यास के उप प्रधान जी है एक लाख रुपया लिखा हुआ होता वहां उन्होंने दिया और ये ऐसे चलता रहा अब दो वर्ष के पश्चात फिर थोड़ा सा इसमें खर्चे करने में भेद आया अर्थात परिवर्तन हुआ उसके पश्चात ये दो वर्ष के पश्चात ब्रह्मचारियों का जो विभाग है उसका एक भाग तो न्यास की ओर से खर्च होता है अपना ट्रस्ट की ओर से अर्थात सामान्य भोजन न्यास की ओर से ट्रस्ट की ओर से आजीवन विकास की ओर से प्रबंध होता है और शेष जो खर्चा बचता है घी दूध वस्त्र चिकित्सा ग्रंथ ये हम ज्ञानेश्वर जी विवेक भूषण जी में वीरेंद्र जी और आप भी उसमें करो तो जितने भी आर्य लोग हैं भारत के वो सारे मिलकर के इस खर्चे का निर्वाह करते हैं ये सारा खर्चा ऐसे चलता है इसके खर्चे की अनुमान की स्थिति क्या है सामान्य भोजन को हटा दो और ईश्वर का केवल खर्चा एक ब्रह्मचारी पर लगभग 500-600 रुपया मासिक एक मास का खर्चा 500-600 के बीच में है आपकी जिज्ञासा हुई होगी कि ऐसा खर्चा क्या है जो रोटी तो हमें ली जाती है ध्यान देना हमारे अब तक यह व्यवस्था है कोई ब्रह्मचारी कितना ही घी खाए उसको उतना ही देते कितना ही दूध पिए उसको उतना ही देते ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ जिनकी आस मूल्य करें तो लाखों रुपये में ग्रंथ आएंगे फिर भोजन आदि से अतिरिक्त जितना भी व्यक्ति के लिए चाहिए एक विद्वान के लिए अब थोड़ा सा ये देखिए आज हम घी लेते हैं गऊ का लेते हैं तो जहां तक मैंने सुना है एक किलो का 120 के लगभग उसका भाव कुछ समझ में आया एक ब्रह्मचारी को सामान्य घी दो किलो खिलाएंगे तो घी का कितना होगा दो सौ और यदि दूध वो डेढ़ किलो पिएगा या एक पिएगा तो वो आप उसका खर्चा कितना होगा केवल दूध घी की चर्चा आई और पुस्तक और वस्त्र और जितना भी ऊपर का खर्चा और फल और चिकित्सा ये सब मिला के लगभग 600 और 500 का वो रहता है एक ब्रह्मचारी का यदि आज कितने ब्रह्मचारी आठ होंगे सारे मिला के राजेंद्र जी से आठ की संख्या हाँ। इतनी है नौमा तो अभी है आठ है मतलब अब वर्तमान में ब्रह्मचारियों की जो यहां पढ़ते हैं उनकी संख्या आठ है तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि आठ ब्रह्मचारियों का कितना खर्चा होगा एक महीने में है जी लगभग अब दूसरे भी बात को और समझिए आप ये समझने का प्रधान है कई बार ऐसा ही प्रवाह चलता है जो व्यक्ति निष्काम भावना से काम करता है उसका मूल्य नहीं जाना जाता गिना ही नहीं जाता उसको पागल माना जाता आपने निश्चय तो देखा भारत की भी यह अवस्था जितना निष्काम भावना से करे उतना ही मूर्ख पागल और अयोग्य ये भावना बनी तो कहेंगे दीदी हम पागल ही हैं तो हमको लाओ इतने हजार दो जब काम करेंगे पागल बनाने से तो वही अच्छा <laughs> एक प्रोफेसर है वो पढ़ाता है ढाई घंटे या छह महीने अवकाश ही बहुत सा रहता है और वो तीन चार हजार साढ़े चार हजार रुपया लेता है और फिर अपने काम करता है और उसको हाथ जोड़ के बुलाते महाराज जी हमारा प्रवचन भी दी जाइए फिर दान दक्षिणा भी देते वही प्रोफेसर कहे कि मैं निष्काम भावना से पढ़ाऊंगा तो उसको कीमत कुछ नहीं है वो पागल है वो मूर्ख है और बेकार व्यक्ति है वो वही प्रोफेसर ऐसी घटना रोज की है ये जो अपने ब्रह्मचारी बैठे हैं इनकी प्रशंसा तो मैं करूंगा ही नहीं उस रूप में क्योंकि इनको योग में गति देनी है पर आपको समझाने के लिए मेरा उद्देश्य है इनको मैंने उभारना नहीं है कि आप बहुत अच्छे बन गए हैं आप बहुत अच्छे अध्यापक हैं आपका मुझे ये तो इनको सुनाना ही नहीं बल्कि मैं ये सुनाता हूं आपको ये ये ये ये रोग है मैं तो इनको ये सुनाता हूं सदा यही कहता हूं ये दोष ये दोष ये दोष ये आपको समझाने के लिए मैं बतला रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान दो इनका भी तो कुछ मूल्य है कई बार लोग ये जानते हैं इनका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि ये वेतन तो लेते नहीं कभी अभी की घटना है एक विद्वान से मैंने पूछा आपको हमारे मन विकास में व्याकरण के पढ़ाने के लिए रख लेंगे तो क्या लेंगे आप उन्होंने कहा कि मैं पैंतीस सौ रुपया मासिक और भोजन आदि अतिरिक्त आप चार हजार रुपये चलिए या साढ़े चार हजार रुपये कम से कम एक व्यक्ति का जो योग्य व्यक्ति है कुछ एक का बनेगा ये अब इनका तो जो खर्चा है आगे पीछे यही खाते हैं यही कमाते हैं वो तो कहीं से नहीं होता ना यदि ऐसे आमद लगाने लगे तो कितना खर्चा बैठेगा इनका चार चार हजार लगाए तो कम से कम और काम ये तीन घंटे नहीं करते ये चौबीस घंटे काम करते जो सो जाएंगे तो सो जाएंगे नहीं तो चौबीस घंटे काम करते हैं वो तो तीन घंटे पढ़ाता प्रोफेसर ढाई घंटे और आधा तो समय अवकाश में रहता है अब आप इनका मूल्य देख लीजिए निष्काम भावना से देश जाति के लिए एक अपनी आहुति दे दी आप साधारणतया सारा मिला तो कितना मेरा तो मैंने छोड़ रखा है मैं तो बाहर रह गया हूं खर्चे से मैं भी मैं भी इनके साथ है ना फिर मेरा खर्चा खर्चा की मेरी चर्चा नहीं है जी अब ये बताओ कितना हो गया जी एक मास का सारा इनका चार चार हजार लगाई तो वीरेंद्र जी को मैंने लिया वीरेंद्र जी भी इनके साथ ही है तो आप कितना हजार होगा आठ दस हजार तो बन जाएगा ना कम से कम ये ये खर्चा हमारा साधारण रूप में इस विद्यालय का है अब आप इसमें कितना भाग लेते हो बताओ कोई एक महीने का दे दो कोई दो महीने का दे दो एक बारह महीने का हो जाएगा हम निश्चिंत हो जाएंगे कर दोगे ना ऐसा है जी नहीं करोगे है जी देखो हम तो भिक्षा मांगते हैं भिक्षा मांगने वाले की छुट्टी है कोई दे न दे आप आए शिक्षा के लिए ध्यान देना हम शिक्षा विभाग की ओर से आपसे एक पैसा नहीं मांगेंगे क्या हम आपको पढ़ाते हैं इसलिए दो नहीं हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं आप यथाशक्ति दो बस बदले की भावना से एक पैसा नहीं कभी न कहेंगे अर्थात यदि ये साधन ना हो तो हम पढ़ा नहीं सकते यदि साधन ना हो तो ब्रह्मचारी को रख नहीं सकते आपको तो ध्यान रहे ये जो आठ में गाड़ी में गिरा रहे हैं ना एडी से चोटी तक का जोर लगाते हैं और भारत के कोने कोने में घूमते हैं जब लाख में एक ब्रह्मचारी मुश्किल से मिलता है इस मार्ग पर चलने वाला ये सबसे बड़ी समस्या है कॉलेजों में इतनी भीड़ होगी वहां प्रवेश नहीं मिलेगा और लाख लाख रुपया देकर बम्बी में देखा मतलब लाख लाख को पहुंचते लाख रुपया दर बच्चे का प्रवेश वाह लाख रुपया दो बच्चे का प्रवेश करवाओ या लाख रुपये खर्च करो एक युवक को नहीं ला सकते आप लाख रुपये दे करके एक युवक को नहीं ला सकते आप यहां ये महती समस्या है ये बेकार की खिलवाड़ जो करते ना लोग कोई कहता जी नौकरी इससे मिलेगी नहीं जी और ये लोग कहते हाय आर्यवन विकास में खाने को अच्छा मिलता है बादाम भी खाते हैं तो हाय क्या करें रो रहे हैं लोग इन लोगों की लज्जा शर्म कहां चली गई इन ब्रह्मचारियों को यह कह के रहे क्या कहते भाइयों सुनो हरिपन विकास में स्वामी सत्यपति और वैसे ब्रह्मचारी घी खाने के लिए आए हरियाणा से घी दूध घी दूध खाने के लिए आए और इसे गोबरू उठवाया करो दूधशाला का तुमने कहा ये बीमारी पाल ली आरिबन विकास वाले को कहते हैं तुमने कहा बीमारी पाल ली ये घी खाने वाले को यहां बुला लिया तो ये सारा का सारा ये वही वो दिमाग बिगड़ा हुआ जो अंग्रेजों के राज्य में अंग्रेजों के राज्य में लोभी महादुष्ट व्यक्ति ये अंग्रेजों के पक्ष में बोलते थे और वो कहते थे अंग्रेजों को नहीं जाना चाहिए यहां से अंग्रेजों का राज्य रहना चाहिए ऐसे ही ये लोग हैं दुर्बुद्धि के लोग जो देश जाति को देश जाति को बचाने के लिए जो लगे हुए हैं और उनके पैर में कुल्हाड़ी मारना बिल्कुल वही है अंग्रेजों के समय में आपने देखे महात्मा गांधी सुभाष जी अपने अपने ढंग से वो उग्रवादियों में थे तो वो शांति आदि में तो अपना अपना काम तो नहीं कर रहे थे देश के लिए और ये कहते थे भाइयों सुनो हम छोटे छोटे थे उसमें ये गांधी जी ये फलाना है शिवाजी पागल है अंग्रेज तो कहीं जाएंगे नहीं सूर्य निकलता है छिप जाता है वहां तक राज्य है इनका हमारा राज्य कहीं हुआ ही नहीं ये गीत गाते थे अब ये जो मैं आपको सुना रहा हूं एक ब्रह्मचारी महर्षि दान के मार्ग पर खड़ा होने वाला आप लाख रुपए देख ला दीजिए नहीं मिलेगा ये कितनी बड़ी समस्या है और आज के युग को पढ़े लिखे युग को नियंत्रण में रखकर देख लो आपको दिमाग ठिकाने लग जाएगा आपका ये कहते खाते हैं पढ़े रहते हैं बीमार हो रहे एक व्यक्ति ने सब जगह प्रचार कर दिया क्या किया देखो जी आर्यवन विकास में खूब बादाम खाते हैं और कट्टे भरे रहते हैं और सारे बीमार हैं मैं गया हरियाणा में मैं गया दिल्ली मैं गया तपोवन वहीं जाऊं यही मिले मैं कौन है कि वो व्यक्ति है जो अहमदाबाद रहता है नाम उसका है और भी है वो तो एक है अब आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है देश को बचाना है वैदिक धर्म को बचाना है वेद को बचाना है संस्कृति को बचाना था तो आहुति देने वाले तैयार करने पड़ेंगे आप कहने की बात है तैयार करके देखो ना एक अपना बेटा करके देख लो पता चल जाएगा लाख व्यक्ति में अपने बेटे को एक को बना के दिखा दो बिल्कुल नहीं ऐसे कर पाएंगे आप इसका बनाना कोई साधारण बात नहीं है दे देना तो सरल हो सकता है किसी को कोई कहे कि मेरे बेटे को ले जाओ उसको बना के खड़ा करना कोई साधारण बात नहीं है दिमाग में भौतिकवाद भरा हुआ है खाओ पियो मजे हो हो और ये दयानंद के मारे पर लगोटी बांध कर रहो कुछ नहीं लेना देना निष्काम भावना से योगी बनो जो इसके लिए आहुति दे दो ऐसा दिमाग बनाना आज तमाशा नहीं है बहुत परीक्षण किया हमने चालीस वर्ष से ऊपर हो गए इसलिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं इन चीजों का महत्व समझो देश जाति की रक्षा करनी है तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा करना पड़ेगा तो इसलिए हमें कम से कम इन्हीं गिने लोग तो इस बात को समझ लें जिस समय अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों भारत छोड़ो ये उद्घोष किया जा रहा था उस समय बड़ी संख्या अंग्रेजों के पक्ष में थी याद रखना धीरे धीरे क्या हुआ आगे बढ़ते गए लोग अंग्रेज उनको मारते गए अत्यंत अन्याय करते गए हजारों की संख्या मरते गए लोग आगे बढ़ते गए लोग एक समय ऐसा आया कि उनको खर्च थे क्यों संख्या बढ़ गई हम चालीस है पचास है कम से कम इतने तो दृढ़ रहे किसी के पास खाने में नहीं आई किसी की बात को कहीं को नहीं माने हमने एक बात सूचना सबको दे रखी है आप कुछ भी पूछो कुछ भी कहो जो का जो बताएंगे चाहे लाखों में खड़े होकर पूछ लो हमसे पूछ के मानना किसी की बात दूर से सुन के मत मानना बस इतना कर लेना आपको कोई बात सुनाई दी कोई बात कही आजकल होता क्या है दूर दूर से बहका दिया और बात चल पड़ी चल पड़ी तो पहले काम बिगड़ गया फिर आए यहां क्या है मन ये है हमको पता नहीं था अब बिगड़ गया सो तो बिगड़ गया हमको पता नहीं था ध्यान देना कोई भी बात किसी रूप में आए उसको हम तक पहुंचा दो चाहे बुरी हो अच्छी हो वो जैसी सत्य होगी वैसी बताएंगे हमारे पास भी विकल्प नहीं है छुपाएंगे नहीं बिल्कुल जब ऐसी बात है तो फिर दूसरे की सुन के क्यों मानो आप नहीं मान सकते और जो मजबूत व्यक्ति है वो तो मानेगा नहीं और जो कमजोर होगा वो जैसे मान लेता है तो ये मैं आपको सुना रहा हूं इसके लिए आप ये समझ करके कि हमारा देश हमारा धर्म वेद दर्शन योग विद्या इसको हमने सुरक्षित रखना इतना ही स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है ये याद रखना हमारे पास अब प्रचारक नहीं है त्यागी तपस्वी नहीं है सच्चे सन्यासी नहीं है तो गृहस्थों को जाके जगाएगा कौन जगाएगा नहीं तो सोए रहेंगे वो तो जगाने वालों की इतनी कमी है कि प्रचारकों में भी प्राय वो रुचि और वो अंदर हृदय में तड़प नहीं है घर घर जाके तैयार करो और घर घर जाके जगाओ तो जगेंगे ये तो नहीं तो सोए पड़े हुए तो ये यहीं सोते रहेंगे और ये जो ईसाई लोग दूसरे मत वाले हैं ये धर्म के नाम से पूरी तैयारी कर रहे हैं लाखों की करोड़ों की संख्या में इनकी तैयारी है अस्त्र शस्त्र की भी तैयारी है संगठन की भी तैयारी है और विदेशियों के तो है ये काम के भारत को नीचे गिराओ अब इसका तो दिमाग झगड़े में लगा हुआ है और सारे के सारे इनको जगाने वाला हो संगठन करने वाला हो तो इनकी रक्षा होगी नहीं तो स्वतंत्रता नहीं बचेगी स्वतंत्रता नहीं बचेगी ऐसे बैठा रहने से धन खर्च करो अपने बेटा बेटी को तैयार करो और संगठित भी रहो और बलिदान की भावना यह अनिवार्य होगा आप बलिदान की भावना नहीं है देश के लिए आप मरमिटने के लिए तैयार नहीं है तो देश की रक्षा नहीं हो सकती आप धन नहीं दे रहे इन कामों के लिए तो देश की रक्षा नहीं हो सकती आप संगठित नहीं है तो देश की रक्षा नहीं हो सकती इसलिए ये जो करना है तो ऐसे होगा जब आप प्रचारक निकालेंगे उपदेशक निकालेंगे और जो घर घर जाके जलाएंगे तो लोग जगे रहेंगे वो उभरेंगे योजना बनाएंगे अब यदि ऐसे विद्वान तैयार नहीं करते हमें तो यहां तो न वेद रहेगा न दर्शन रहेंगे ना देश रहेगा ये सारा सारा खत्म हो जाएगा ध्यान देना दूसरे पक्ष में विदेश के विद्वान और मतवतांक के विद्वान कितने प्रचार करते हैं ध्यान देना एक मुसलमानों का विद्यालय देवबंद नाम के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ध्यान देना उसके ऊपर मुसलमानों का विद्यालय है देवबंद में वहां एक व्यक्ति ने बताया वो गए थे उस देवनंद नाम के स्थान पर एक विद्यालय में तीस हजार व्यक्ति पढ़ते हैं जवान एक विद्यालय वो पता नहीं कितने हैं एक विद्यालय में तीस हजार मुसलमान युवक पढ़ते हैं कुरान आदि के विद्वानों के जो देश विदेश में प्रचार करते हैं और उनका सारा खर्चा मुसलमान लोग देते हैं यहां तीस ब्रह्मचारियों के लिए नहीं हो रहा खर्चा कहा मुकाबला करेंगे आप बात बनाते रहो जो करो उसकी टांग खींचते रहो ध्यान दो ये एक मैंने केवल ये घटना सुनाई है ऐसे ऐसे कितने विद्यालय हैं ऐसे ऐसे कितने युवक तैयार हो रहे हैं वो अस्त्र शस्त्र शक्ति से भी तैयार हो रहे हैं और विद्या की दृष्टि भी तैयार हो रहे हैं और यहां किसी की ओर ध्यान नहीं है पाकिस्तान आ जाए कोई बात नहीं चीन आ जाए तो भी कोई बात नहीं भाई आएगा राज तो इनका रहेगा सो कोई बात नहीं ऐसे कहते हैं लोग देखिए जी हमारा राज्य रहा तो क्या पाकिस्तान का तो क्या हमने तो रहना है व्यापार करना है इनका दिमाग ये है हमने तो रहना है इनके नीचे रह लो या दूसरों के नीचे रह लो ध्यान देना हमने चित्र देखा अंग्रेजों का राज्य जो था हम छोटे छोटे थे और एक सिपाही गांव में आ जाता था कई बार कोई घटना होती ना एक से पाई आता था तो लोग भाग भाग के किवाड़ बंद कर लेते थे सिपाही आ जाए थानेदार आ जाएगा बस फिर क्या भगदड़ मच जाती थी और क्यों बंद कर लेते सिपाही के पास खड़े नहीं रह सकते थानेदार के पास जा नहीं सकता कोई इतनी भगदड़ मच जाती कोई वो आ गया ये आ गया और हमने यहां पर क्या देखा एक बार सम्मेलन हुआ था सैकड़ों के लगभग देश आए थे संस्कृत विश्व संस्कृत सम्मेलन विज्ञान भवन में जहां आग लगी थी पीछे तो मैंने भी भाग लिया भाग लिया तो सारी योजनाएं देखी लंबी चौड़ी और एक जवान थे लंबे चौड़े मैंने पूछा आप संस्कृत जानते हो मनाक जाना नहीं क्या कहा उसने मनाक जाना नहीं मनाक जाना नहीं का अर्थ क्या है है हाँ जी ओछी जानू छू <laughs> मनाट जाना नहीं थोड़ी जानता हूं तो वो घटना मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो इसके साथ आबद्ध थी ये तो थोड़ी रोचकता बनाई बीच में <laughs> तो उसमें आए और बैठ के ले जाए घास का मैदान है और भाई ऐसे कुछ बिछा हुआ सा था चाहे वो बंगी हो चाहे और हो कोई हो माताएं हो सारे बैठ के पंक्ति में कोई छुआछूत नहीं कोई वो नहीं ये नहीं और भोजन प्याथा खाने लग गए और फिर इंदिरा गांधी आ गई वो इंदिरा गांधी वहीं कुर्सी पर बैठी हमारे साथ था और जैसे हम बैठे ना जैसे भोजन खा रही और लोग इसके पास में बैठे अब प्रधानमंत्री के पास में बैठ के झाड़ू देने वाला बैठ सकता है ये अपने राज्य की बात सुना रहा हूं अपना राज्य होने से क्या हुआ है देख लो एक राष्ट्रपति से झाड़ू देने वाला बात कर सकता है ये कहते अंग्रेजों का एजिब क्या और पाकिस्तान का एजिब क्या ये दिमाग खराब है लोगों का तो ये सारा का सारा इस रूप में आएगा हमारे सामने यदि हम इसके लिए कोई तैयारी नहीं करते हम युवकों को तैयार नहीं करते ब्राह्मण क्षत्रिय बहनों को तैयार नहीं करते तो ये हमारे सामने आपत्ति धीरे धीरे आएगी करेंगे तो नहीं आएगी हम भी परिश्रम करेंगे पूरा और पूरा परिश्रम करेंगे सारे मिलकर के तो इन आपत्तियों से हम सुरक्षित रह जाएंगे नहीं तो नहीं रह सकेंगे देखो धन की कोई ऐसी कमी नहीं जैसे कि लोग सोचते हैं वास्तव में हमने ये देखा है धन इतना है अपना काम चलता रहे और देश भी बच जाए विद्वान भी तैयार हो और विद्यालय भी चले एक मैं कल्पना करता हूं हम चाहते हैं दस जगह ऐसे ऐसे विद्यालय चलाने ऐसे ऐसे कल्पना करो दस जगह और उसमें दस हजार रुपया ले लो तो कितने विद्यालय चलेंगे दस हजार में एक चलेगा ना तो दस विद्यालय कितने हजार में चलेंगे अच्छा यदि हम एक करोड़ रुपया जमा कर दे रहे तो दस लाख आए तो दस दस आए तो चलेगा ना अर्थात एक करोड़ रुपए में दस विद्यालय ऐसे चल सकते ध्यान देना और ये ईट पत्थर में देखा मैंने मुंबई में एक एक मकान पर दस दस नहीं तीस करोड़ रुपया कर ऐसे भवन और एक करोड़ देश के लिए देने के लिए तैयार नहीं है भाई एक दो कोठी का एक दो कोठी का बम्बी का एक दो कोठी का दिल्ली का एक दो मद्रास का एक दो कलकत्ता का दो दो तीन तीन कोठियों का धन लगा दो अब कोई क्या मुश्किल है बूंद के समान दिखेगा आपको धन इतना ही तो है ना पर इतना कोई देने के लिए तैयार नहीं वो दुष्ट ले जाएंगे और ये छुरी मारने वाले ले जाएंगे वो श्याम सुंदर जी बैठे हैं यहां ठीक है उन्होंने कथा सुनाई थी किसी के सामने थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहा हूं वो दृष्टांत है एक संबंधी थे इन्होंने कहा भाई तू एक दो लाख कुछ तो रुपया कर धन धर्म के लिए खर्च ये सब चर्चा सुनी मैंने भाई वो तो बड़ा धनवान था कुछ एक लाख दो लाख कुछ तो धर्म देश जाति के लिए कर उसने किया ही इन्होंने सलाह दी ये तो दानी है ये तो आप जानते हैं ये लाखों रूपये तक दान देने वाले हैं ना उर्मिला जी भी कहा करती मेरा नाम मत लिया करो हम उर्मिला जी के नाम नहीं लेंगे हम तो अपने प्रचार के लिए नाम लेंगे तो उसको कहा कालांतर में क्या होता है ध्यान देना उसने दिया ही नहीं नहीं दिया परिणाम क्या निकला लगभग सुना है पच्चीस लाख आए और वो कितना हुआ होगा सारा नष्ट बैठ गया पच्चीस लाख के लगभग ऐसे तो ये दे देंगे ले जाएगा कोई पर देश जाति के लिए ये वेद की रक्षा के लिए देने वाली बात नहीं सोचता व्यक्ति इसलिए आप इन बातों पर विचार करो माताएं अपनी बेटा बेटी को भी तैयार करें एक भाग है पिता भी अपने बेटा बेटी को तैयार करें देश के लिए उसको फिर उसका दूसरा नंबर आता आपके पुत्र पुत्रियां ऐसे नहीं है कल्पना कीजिए अपने देश में जितने भी लड़के लड़की वह आपके बेटा बेटी मान के चलिए केवल यह दिमाग न जलाई कि जन्म से ही कोई बेटा बेटी होता जो पात्र है वही आपका बेटा है जो अच्छी लड़की है वो आपकी बेटी है हम तो ये मानते हैं जन्म से कोई किसी का बेटा बेटी नहीं वो अच्छा है तो आपका अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ दो धन को देश के लिए खर्च करो एक बानप्रस्थ थे उनका नाम तपोवन की घटना वहां सुनी उसके बेटे न संध्या करें न आर्य समाज में जाए न नमस्ते करें वो बड़ा दुखी और बानपत जगदीश मुनि उन्होंने बुलाया सबको बेटा सुनो न नमस्ते करते न आर्य समाज में जाते न संध्या करते और याद रख लो ये मेरे पास में जितनी लाख की संपत्ति है यदि तुम नहीं करोगे तो आर्य समाज को दे दी जाएगी उन्होंने हाथ जोड़े पैर छूने लगे कहीं पिताजी सारी बात मानेंगे मानता कैसे नहीं है कैसे नहीं मानेगा मान जाएगा पर ये मोज है ना पाप है पाप अंदर बैठा है मेरा मेरा डाकू भी मेरा शराबी भी मेरा मेरा ये मेरा जो है ये पाप करवाने वाला उर्मिला जी गा रही थी ना गा तो बहुत अच्छा रही थी फिर वो सुना नहीं होगा ज्यादा तो टुकड़ा मेरे तेरे वाला सुना था ये व्यापार रहेगा कब तक मेरे और तेरे का व्यापार रहेगा कब तक मैं सुन लिया इस कान से सुनाई से निकाल दिया व्यापार रहेगा कब तक व्यापार रहेगा कब तक <laughs> तो ये क्या बात बनाते अच्छा आप अंतिम दिन प्रतिज्ञा करोगी कुछ है हाँ जी हमें एक कथा सुनी है दंत कथा बोलते हैं परंपरा की कथा है ध्यान देना वो ऐसी की वैसी हो सकती है बनाई हुई हो सकती है पर एक समय ऐसा माना जाता है जिस समय जैनियों का राज्य था भारत पर और जैनी लोगों का मत है ईश्वर नहीं है और वैदिक धर्म को मिटा के खत्म करो आश्रम व्यवस्था को खत्म करो वेदों को खत्म करो ये जो परंपरा चल रही थी ध्यान देना उस समय की हम कथा सुनते हैं एक लड़की बुद्धिमती कुमारी युवा की होगी लगभग युवावस्था की वो क्या देखती है कि वेदों का कैसे विनाश किया जा रहा है और हाँ ऐसी वाक्य लगभग ऐसे हैं किम करो मी कुछानी को वेदान उद्धरी से थी क्या कहा किम करो मी कु गच्छामी को वेदान उद्धरी से थी वेदों की रक्षा कौन करेगा वो बेचारी तड़प रही थी तो कुमारी भट्ट बहुत बड़े विद्वान माने जाते उस समय के वो कहते हे कन्या तू भय मत कर कुमारिल भट्ट अस्थि भूतले इस भू पर कुमारिल भट्ट है तू चिंता मत कर बेटों की रक्षा की आप में से कोई कहेगी ऐसा भाई के सामने कहोगी वो है ना कौन है अखिलेश जी <laughs> और उनकी बहन कौन सी है आप में से कहेगी कोई सी किम करो मी को गच्छा मी को वेदान और अखिल अखिल कुमार कहेंगे मादिदेह कन्ने के अखिल कुमारस्थी भूतले तो हो तो होगी ना ऐसा ये भावनाएं होती है जब भावनाएं माताओं में उभरती है तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है मैं उसका नाम तो भूल गया हूं एक वृद्ध व्यक्ति थे कोई कथा मैंने पढ़ी थी बहुत लंबे और वो बच्चा उसका पोता जो था लगभग छह वर्ष का था ध्यान देना और उस समय अंग्रेज जो थे जो क्रांतिकारी होते थे वह जैनिक होते थे पकड़ पकड़ के तोप के गोले के सामने मारते थे भारतीयों अब जो इस रूप में थे उनको पकड़ा और उनको मारते थे तो एक दिन उस घटना को दिखाते थे अंग्रेज देखो अंग्रेजों के विरुद्ध जो करेगा उसको तोप के गोले के सामने ऐसे उड़ाया जाएगा वो दिखाते थे ना उसको तो वो बूढ़ा व्यक्ति था उसका पोता था छात्र वो छह वर्ष का लगभग था वो, वो क्योंकि दादाजी कहां है कहां जा रहे हैं हम ये क्या हो रहा है तो उसमें भाव क्या था बूढ़ा रोता हुआ बोलता है बेटा क्या बताऊं ये दुष्ट अंग्रेज हमारे भारतीयों को मार रहे हैं उस बच्चे पर बताते हैं ऐसा संस्कार बना वो बड़ा भारी क्रांतिकारी बना उन वो ये छह वर्ष का बच्चा उसके में कहा दादा जो रोता हुआ बोलता है ये दुष्ट अंग्रेज हमारे भारतीयों को मार रहे हैं उस बच्चे के कान में ये बात पड़ गई और वो भर दिया भाव मां भरती है आप तो ये बेटा यो बाल कर लो यहां वो बांध लो और ये टाई लगा लो बस हो गया बेटा बन गया और फिर डॉक्टर बनना और डॉक्टर बन के पानी के सुए लगाना और अधिक से धन ले आना ये भावना तो यहां से सीख के जाओ आप और बिल्कुल बदल कर रख दो हम तो ये मानते हैं और चाहे कुछ भी होता रहे रुकने वाले नहीं है आप सहायता करोगे तो अच्छा ना करो तो मत करो हम नहीं रुकने वाले रुकेंगे ही नहीं ये शरीर तो मर सकता है हमको कोई रोक नहीं सकता और इसी आधार पर हम आगे बढ़े ईश्वर हमारा सहायक है ऋषि ग्रंथ हमारे सहायक है पर आप ये मत माना करो कि हम ऐसा करेंगे तो हमको दुख मिलेगा आप ये मत माना करो हमने दान दे दिया तो कंगाल बन जाएंगे बिल्कुल कंगाल नहीं बनता व्यक्ति बिल्कुल दुख नहीं होता मैं ये कह सकता हूं चालीस वर्ष से ऊपर हो गया मैंने एक पैसे के लिए कभी कोई काम नहीं किया चालीस वर्ष से ऊपर हो गया एक पैसे के लिए जो देते हैं वो देते हैं या हम कहते हैं काम के लिए दो पर मैं जितना अपने आप को सुखी देखता हूं जितना स्वतंत्र देखता हूं जितना निर्भय देखता हूं जितना शांतिमय देखता हूं मुझे तो करोड़पति अरबपति एक भी दिखाई नहीं देता त्याग से दुख नहीं होता त्याग से हानि बिल्कुल नहीं होती त्याग से जितना त्याग करो उतना भगवान के निकट पहुंचा जाता व्यक्ति और वो आनंद मिलता है जो अरबों खरबों में नहीं मिलता निश्चित बात है इसलिए ये तो उचित व्यक्ति का जो सामर्थ्य है उतना धन दो शरीर से सेवा करो देखो एक बात और बताऊं मैं आपको जो आपकी बड़ी अवस्था है ना आप में पचास के साठ के हो गए वो हमको यहां के काम करवाया करो वो ये सहायता दे सकते हैं प्रचार का कार्य एक है हमारे पास में आश्रम का प्रचार करना घरों में जाके संस्कार करवाना आप में से भी तो कोई तैयार होना चाहिए ना जो पचास पचास के साठ साठ के ये कोई नहीं छोड़ते बिल्कुल नहीं छोड़ते घर में बैठे रहते ये घर में मैं गया चार पीढ़ी है हाँ बोल बहुत अच्छी बात है और उस दिन प्रतिज्ञा करेंगे ना तैयारी तो कर लेना और सूची बना लेंगे कौन कौन माताएं बहने कितना काम करेंगी तन से मन से धन से और आप में भी बिना काम किए तो कोई आनंद की बात है नहीं और होने वाला कुछ भी नहीं है संसार में होता है तो आहुति से होता है और ये याद रख लो निष्काम भावना से धन देने वाला शरीर से सेवा करने वाला विद्या पढ़ाने वाला प्रचार करने वाला व्यक्ति दुखी कभी नहीं होता बाहर से आपको दिखता होगा हृदय में जो शांति मिलती है वो ईश्वर की आज्ञा के पालन करने से मिलती है सच्ची शांति जो मिलती है जो सर्वस्व का त्याग कर देता है उसको मिलती है ये उल्टा दिमाग है और ईश्वर भी इकट्ठा करने से शांति मिलती है भाई इकट्ठा तो करो पर ये ईश्वर का है और ईश्वर के काम में झोंक दो इकट्ठा भी कर लो तो इसलिए ये भावना बनाना शुरू कर दो और पहले आपकी भावना अखिलेश जी की माता जी कहां है अब तो कुछ जचती होगी थोड़ी बहुत जो यहां होगी तो सुनूंगी या सुनेंगी नरेश जी ब्रह्मचारी ने उसकी माता जी रोती थी पहले वो हमारे पास आई हमने उनको पढ़ाया भी कालवा में भी पढ़े और रो रही थी वो कि हमको गालियां देती थी जब पढ़ लिख करके अच्छे बने और हजारों की संख्या बोलने लगे मान होने लगा मां कहती है मैं तो बस कृत करते हो गई और ये इसे आप भी कहने लगे यदि अखिलेश बन गए ना आप भी यही कहेंगे आज तो आपको गाली दे सकती हो आप हाँ हाँ ये माताएं जो है और चंद्रावती जी बैठी है वहां उनसे पूछ लो <laughs> माता जी की कथा सुनाऊ मैं दिल्ली रहता था माता जी का बेटा है राज सिंह ये बड़ा योग्य है आपने बोलता देखा होगा कलकत्ता जैसे नगरों में उसने प्रभावित किया है हमारे पास पढ़ा पढ़ते रहे कभी कुछ पढ़ा सुनते रहे और बड़े अच्छे कार्यकर्ता जब वो इधर उधर जा रहे थे ना माता जी के घर पर गए फिर के स्वामी जी रोज आया करो ये खिलाती पिलाती हमने राज सिंह जी को सुधारा ये छोटी जी थी ये जो देखो क्या बैठी वो शारदा अब तो ये होगी ना बूढ़ियों जैसी तो, तो उस समय माता जी ने कहा कि यहां आया करो क्योंकि हमने राज सिंह जी को कुसंग से दूसरे विचार हटाए ना उसके तो क्योंकि बहुत अच्छा हो जाए तो खूब खिलाती माता जी और कह रही यहां आया करो हमारा तो काम वही है भगत सिंह जी वाला सुभाष और भगत सिंह जी वाला काम ऋषिदास जी वाला काम है हमारा तो भाई मैंने कुछ दिनों देते शिक्षा देते देते देते बड़ा हो गया अच्छा हुआ फिर मैंने कहा बताओ कहते जी मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा तो माता जी को पता चल गया जो स्वामी जी ने बताया कि तो मैं जारी रहूंगा और बस साठ हजार रुपये आता भी वहां करवाते तो फिर ये इनका ऐसे ऐसे देखने लगे हमको <laughs> तो तो उतारी कितना तरह कुछ हुआ अच्छा फिर इन्होंने बहुत दुख का भी इन्होंने क्यों किया जब मेरी बात इन्होंने नहीं मानी ने मैंने कहा राज सिंह जी आप चार पांच बस गुकड़ में रह जाओ इनको भी समझाया वो भी इन्होंने नहीं माना जब उन्होंने नहीं माना फिर वो थोड़ा सा उनसे भूल हो गई भूल होने पर इनको भी दुख हुआ और उनको भी हुआ वो यहां आगे रोए थे राज सिंह जी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी यदि वो मानते तो आज इतने स्तर पर राज सिंह जी अब भी बहुत अच्छा है पर वो महान विद्वान आपको दिखाई देते यदि वो चार वर्ष ही यहां रह जाते या कहीं भी रह जाते तो इन माताओं की स्थिति है ये ठीक नहीं है ये सब कुछ ईश्वर का है आंख नाक सब कुछ ईश्वर का है हम तो ये देखते हैं कि ईश्वर की आज्ञा क्या है बस इस पर जो व्यक्ति चलेगा वो सुखी होगा आप पूरी तैयारी करो कोई कमी नहीं होती कोई हानि होती ही नहीं बुद्धिपूर्वक तनबंधन झोंकने से व्यक्ति कृत हो जाता है लौकिक सुख मिलता है और मोक्ष तक पहुंचने में समर्थ होता है इधर स्वार्थ की भावना बिल्कुल व्यक्ति को पतित कर देती है इसको बाहर उखाड़ के फेंक देना चाहिए अब मैं जितना कहूं उतना थोड़ा बस अब सोना भी है और फिर उठना भी है अब आग तो सुलगाते ही है और आप उसमें पानी डाल देते हो मैं उसमें सुलगाता हूं आप पानी डाल देते हो फिर मैं सुलगाता हूं फिर पानी डाल देते बोले हम सुलगाने वाले ये पानी डालने वाले हृदय में भावना बढ़ते हैं और युवकों के बनवा आती है ये कहते हैं ये स्वामी जी पागल हैं ये क्या जाने एक दिन माता चंद्रावती जी के जर पर खींचातानी नहीं होगी दोनों का झगड़ा हो गया अब बुरा तो नहीं मानोगी ना हाँ बता देना बुरा मानोगी तो फिर तीन तो मतलब तो आपको आनंद आ रहा होगा जो सुना रहा हूं <laughs> तो दोनों में जोश आ गया ये हरियाणा के हैं हरियाणा वाले में गुण भी है ये दोष भी है गुण तो यह वीरता इतनी है और काम में इतने लग जाएंगे तो मर जाएंगे और जो लड़ पड़े तो भाई भाई लड़ पड़े तो क्या हुआ मैंने कहा देखो माता जी पति को ऐसे नहीं बोला करते इनको रोका पति देव आए नहीं ऐसा है ऐसा मैंने कहा देखो पत्नी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए फिर इनको ये बोल पड़ी नहीं ये ऐसा करते वैसा करते मैंने कहा माता जी ऐसा मत करो फिर वो बोले अभी वो जब से बोले अच्छा आप कभी गृहस्थी भी बने हो कभी गृहस्थी बन कभी देखा है मुझे कहने लगे अब गृहस्थ में बनाओ इनकी तरह भेट चाल चलते रहो और पड़े रहो खटोली में और फिर कहो कोई बात अच्छा भाई सुनो देश जाति की रक्षा करने की मैंने बात कही एक भाग योग का है जो आपको आनंद का बताते पर कम से कम हमने एक ये बात सुना के भी कुछ आनंद तो आया ही होगा ये लौकिक है और एक देश जाति की रक्षा और एक योग का आनंद ये समझ समय तो पर होता है हम मन को इतनी देर में बदल देते हैं आप भी बदल सकते हो थोड़ी देर में लग जाए थोड़ी देर में समाधि लगा दें और फिर गंभीर हो जाए और फिर वो बच्चा हो ना दो तीन वर्ष का उसके साथ खेलने लग जाए आप देख सकते हैं रोटी वाले के पास जाकड़े हुए रोटी ऐसे बनाओ बदल देते हैं अपने उसको व्यक्ति को यह अधिकार होता है व्यक्ति को थोड़ी देर में गंभीर थोड़ी देर में हंसने वाला थोड़ी देर में बहुत वो अर्थात ये ऐसा मत मानना कि हम तो हंसने के लिए आए आप ऐसी गुण मत कर देना ये तो कुनून की गोली गुड़ में लपेट लपेट के खुआई जा रही है हाँ कुनून की गोली होती है ना ऊपर गुड़ लपेट दो और खिला दो जबानी से क्या होगा फिर देख लेना तमाशा <laughs> तो ये कुनेन की गोली गुड़ लपेट लपेट के खिला रहा हूं ये रोग को नहीं छोड़ेगी अज्ञान रूपी रोग है ना जो अधर्म रोग है उस रोग को ये कुलीन की गोली मेरी छोड़ेगी नहीं मीठी लग रही है आपको आप दस दिन में जाएंगे और वहां यहां बैठेंगे घर के ये क्या हो गया क्या हो गया ये बिगड़ के आ गया तुम्हारी अपने विकास से <laughs> तो इसलिए ये बीच में आपको क्यों सुनाया गया गंभीर है इसको रोचक बना दिया गया है हमको ऐसा दिमाग बना के चलना है संगठित रहना है बलिदान देना है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है ऋषिदान जी कहते थे बस ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध में कोई बात मानने के लिए तैयार हूं सबके साथ समझौता किसी के साथ भी नहीं करूंगा मैं सत्य के विपरीत असत्य से समझौता नहीं है ईश्वर की आदेश से विरुद्ध किसी से समझौता नहीं है हम ये मान के चलते हैं हमको अपने साथ भी समझौता नहीं है अपनी भूल अपनी बुराई के साथ भी समझौता नहीं है हमको ऐसा मान के चलते हैं जो व्यक्ति ऐसा चलेगा वो सफल होगा अब मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं और दूसरी बात हमको जहां योग विद्या आती है वहां लौकिक व्यवहार की बातें भी याद रहती है वो भी याद रखना कई बार क्या होता है हमारा यहां धार्मिक लोगों का सत्संग चलता है और कई दुष्ट लोग होते हैं चोर होते हैं डाकू होते हैं वो क्या करते हैं झट लूटने के लिए आ जाते हैं झट पीटने लग जाते हैं और वो ये जानते हैं इनके पास है कुछ नहीं परंतु आप ध्यान रखना आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है अपनी रक्षा आप करो रक्षा करो यदि रक्षा नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे थोड़ी देर लगेगी तो इसलिए हम कम से कम बंदूक तो हम नहीं रख रहे और चीज तो हम नहीं रखे कम से कम ये लाठी तो रखनी चाहिए एक एक लाठी तो होनी चाहिए ना जी समय आने पर वो लाठी अपनी रक्षा कर सके कुछ काम कर सके इसलिए ये आलसी प्रमादी जीवन अच्छा नहीं है लाठी क्या रखेंगे जी बुरा लगता है जी ऐसे कुछ नहीं है हम तो लाठी रखते हैं हमें दिल्ली बंबई जाएंगे जहां लाठी रखेंगे कहीं कुत्ता आ जाता है कोई मारने लग जाए तो कम से कम उसको अपनी रक्षा तो कर लें पानी में अंधेरे में रक्षा है वो और याद रखना जो व्यक्ति लाठी रखते हैं और लाठी मारनी जिसको आती है बंदूक वाला डाकू भी आने से घबराएगा कभी देख लेना वो ये मानता है कि ये व्यक्ति मर जाएगा पर मुझे खाली नहीं जाने देगा वहां डाकू नहीं आएगा कभी देख लेना वीरता जाए संगठन जाए और जहां ये सोचेगा इनमें कोई उभरने वाला नहीं है सारे बेड की तरह ऐसे हो जाएंगे वहां आएगा डाकू वहां आएगा चोर इसलिए जहां योग विद्या सीखते हो अपनी रक्षा के साधन भी उपस्थित रखो और माताओं ये सोना वोना मत पहना करो इसलिए यह मना है यह मत पहन के आया करो और ये बेकार की ये, ये तो मौत है धन भी जाएगा और मौत हो जाएगी छोड़ा मार देता और धन ले जाता मुकदमा नहीं चल सकता क्या बनेगा बेकार के वीरता की बातें करो सारी की सारी बलवान शक्तिशाली बनो इसलिए अपनी रक्षा का भी साधन सतत रखना चाहिए और हमारे पास में कोई रक्षा के साधन हमें बैर नहीं है किसी से द्वेष बिल्कुल नहीं है परंतु द्वेष करना अलग चीज है बैर करना बिल्कुल अलग चीज है अपनी रक्षा रक्षा करना बिल्कुल अलग चीज है उसका कोई संबंध नहीं है बैर से इसलिए अपनी रक्षा के लिए साधन रक्षा करो घूमने जाओ तो लाठी रखो और जो भी गड़बड़ हो तो अपनी रक्षा करो अब आगे का कार्यक्रम ये थी लक्ष्मी